मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरों में से हैं वो बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं और अपने हाथ बंद रखते हैं वो भूल गए अल्लाह ताला को तो उसने भी उन्हें भुला दिया यकीनन मुनाफिक ही नाफरमान हैं